तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करते हुए उन्हें माँ की पीठ से तशबीह दे बैठते हैं वो उनकी हकीकी माएँ नहीं हैं उनकी माएँ तो सिर्फ वही हैं जिन्होंने उन्हें जना है और यकीनन वो बुरी और झूठ बात कहते हैं और बेशक अल्लाह बहुत माफ फरमाने वाला बड़ा ही बख्शने वाला है